आप रसुनी करारियो hundred five point three F M पर सुन रही है हमारे रेडियो के कार्यक्रम में यहाँ से लिया जाएगा अपराधी मामले दिल में सनम तेरी ही सूरत सजी है मगर सिर्फ एक ही कमी है इस तरह से गीत लाए गए घर की तरफ जब मैं देख रही हूँ पाँच बजने में ठीक दस मिनट बाकी रहा हमारे रसनिक है एफ एम एक सौ पाँच पॉइंट तीन में खैर से खास कार्यक्रम पेश करते हुए अब के बार गीत जो लाया जाता है सुनते ही जाइए और इसके बाद में आज का अपराध मामले जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन यो दिल पड़े छाया वो मेरा अंग मुस्काया ओ मेरा अंग अंग मुस्काया सपनों की मेरे सपनों पिया मेरी आंखों में तेरी आंख पिया मेरे सपनों की मेरे सपनों पिया आज दिला तरफते हैं तेरी विजय से चल बिना मजनिया वो दिन रात नींद नहीं आवे दिन रात से ये दिल में समाया वो दिन रात नींद नहीं आए वो दिन रात नींद इनामर ताइलैंड में गिरफ्तार हुआ है पासपोर्ट के हेराफेरी में एक जांच से पता चला है कि कुछ लोग ताइलैंड में पासपोर्ट में जाली पासपोर्ट बनाते थे और अंत में ये खुरब के जॉन लेदर रहा गिरफ्तार हुआ वह था अठावन बरस का चुंग जो कि सुरीनाम से स्टाक्सबर्गर है उसे गिरफ्तार किया गया है एक अरस्तासी बफेल अनुसार जो सत्रह तारीख अप्रैल को हाल ही में लिया गया था क्योंकि यह आदमी जाली पासपोर्ट इस्तेमाल की और कईयों के दिए थे यहाँ के एक म्यूजियम जिसका नाम है खाउस बता रही है जाल से पता चला है कि ये बेंदर पासपोर्ट जाली बनाते थे नकली बनाते थे और लोग इस कारण से इलाहाल देश में आते और जाते थे ये यह बेंदलैर चुंग था जिसके जन्म साल उन्नीस में हुई वह है कि वह ताइवान के रहने वाले हैं परंतु इमिखराजी ब्यूरो ताइवान के सिपाही वाले को पता चला है कि उसके ताइवान के पासपोर्ट भी नकली है चीना के सिपाही वाला जैसे कि बता रही है कि उसे मिला था चीनी से तय पता चला कि चुंग एक लेडर है एक बैंड का जो पासपोर्ट बनाते थे चीना और ताइवान के जहाँ पर लोगों को परमानेंट फरब्लेव कार्ड देते थे कई देश के लिए साथ में ही वह एक बैंद के मुख्य रहा मुखिया रहा जिस पर चीनवा लोगों को इलाखाल फलक्स रिपब्लिक चीना से ये सब दूसरे देश मोकल करके ले जाते थे ये फॉल्स पासपोर्ट और परमानेंट फरब्लेफ कार्ड के साथ में और फिर उसके घर की जब तलाशी लिया तो ताइलान के सिपा वहाँ के सिपाही वाले कुछ सरकारी कागजात पाए हैं जैसे कि रैबवैस कर ऐसे डॉक्यूमेंटन जो शायद बांकरीक ने खोला जा सके पासपोर्ट की कई ऐसे कॉपी भी मिला है गत रात को हेरनहुतश्तात के एक यहाँ से एक टोयोटा रेक्टस गाड़ी चोरी हुआ और ये गाड़ी मिला है पैतृक वैख पर पूरी तरह से स्लोप किया हुआ सिपाही लोगन को यह स्लोप किया हुआ गाड़ी के बारे में खबर मिले जो एक घर के सामने खड़ा था जहाँ से पता चला कि एक चोरी किया हुआ रेक्तस है जो गत रात को चोरी हुआ वह गाड़ी बसलाह किया गया और स्लीप दिन से वहाँ से हटाया गया है सिपाही वाले छत्तीस बरस के आदमी को गिरफ्तार की जिसके पास इलखाल बंदूक रहा यह हुआ जब मेयर सौरख के सिपाही को इस अपराध के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगे Unit Direktoro Parazzi, John Kistot Groep O, Surinaamse Politie Recherche O, सीमेल करके इस अपराधी तेयम को गिरफ्तार की जिसके पास इलाखाल बंदूक रहा मैरक खलौक और चौदह खैरप पत्रोन भी मिले अपराधी के सब कुछ बसलाख किया गया और फिर सौंपा गया अवधीलिंग रिसर्च ओस के जो इस अपराध के आगे जांच करी इसी के साथ में आज के अपराध ही मामले को मैं विराम करती हूँ I love it for you and making me laugh. Minayo unis pang agrong tapo. Que tere bina hamko. Tampo sliramu ati ku rekoso You are the air that I breathe Oh, you are the rhythm of my heart sa pisanan tresnoning ating Sana दर के वक्त हो गई है और यहाँ से लाइव अपडेल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है एफ एम एक सौ पाँच पॉइंट तीन में खैर से लाइव आने के लिए आपको तार करना है दुई ए नोल अक्सेस थ्री और ऐप करना है आठ हंड्रेड निकंतक नोल सेंस नो दुई ये प्रोग्राम का स्पॉन्सर है एर पी ट्रेडिंग सबसे पहले प्रोग्राम का स्पॉन्सर का संदेश